बस महाराज अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं हो गया था हम तो ब्रह्म है तो हंसते थे बोले कि अरे करेगा क्या ब्रह्म हो गया तो करेगा क्या दूसरा भी तो पढ़ ले हाँ, हाँ, दूसरा भी सुन ले हाँ, फिर दूसरा पढ़ लिया फिर बोलते अभी भूदेव शर्मा जिंदा है अलीगढ़ से वो कहते हैं पहले में भी हमने कहा कि बस अब कोई जरूरत नहीं है दूसरे में भी कहा कोई जरूरत नहीं तीसरे में भी कापर हर बार मालूम होता कि नई नई नई बात मालूम पड़ रही है तो आपको तो, हाँ, ये बात ध्यान में होगी अर्जुन को भी मोह निवृत्ति का है ना भ्रम हुआ था दसवें दसवें अध्याय में हूँ अर्जुन बोल उठते हैं मोहोयम विगतो मनो भवाद्य ही भूताराम श्रुतो विस्तर सो गया तो दसवें अध्याय में बोलते हैं ग्यारहवें में ही बोलते हैं कि दसवें अध्याय में मोह निवृत्त हो गया मोहोयम विगतो मनो मेरा अर्जुन विगत हो गया और भगवान तो सब समझते हैं कहाँ वो है कहाँ नहीं है तो एक कल्पना मन में हो जाती है वो छूटनी चाहिए अर्जुन की मोह निवृत्ति के बारे में तो बड़े बड़े शास्त्रकारों को भी हाँ, शंका है महाभारत में ही गीता के बाद अनुशासन पर्व में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण तुमने महाभारत के प्रारंभ में हमको गीता दिलाया था गीता ज्ञान दिया था तुमने गीता सुनाई थी पर उस समय तो बड़ा कोलाहल था बड़ा विक्षेप था वो ठीक ठीक गीता का ज्ञान मुझको ग्रहण नहीं हुआ अब फिर से सुना ये महाभारत में है तो श्री कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन तुमने बड़ी भारी भूल की उस समय तो मैंने योग युक्त होकर के गीता का उपदेश दिया था योग युक्त होकर के मैंने ब्रह्म भाव से गीता का उपदेश दिया था वो तुमने भुला दिया अब मैं दोबारा इसका उपदेश नहीं कर सकता अब भगवान ने अनुगीता का अच्छा उससे मिलता जुलता एक ज्ञान और देता हूँ तो अनुगीता महाभारत के अनुशासन कर्म में अनुगीता भ्रम हो जाता हो एक उत्तर गीता है जिस पर गौड़ पादाचार्य की टीका है उसमें भी यही प्रश्न है अर्जुन ने कहा कि कृष्ण तुमने महाभारत में हमको ज्ञान उपदेश दिया था सो भूल गया आप फिर से उपदेश करो तो भगवान ने कहा वो तो नहीं दूसरी गीता लो तो उत्तर गीता का उपदेश किया तो अनुगीता और उत्तर गीता गौरपाद दादा का बात है इसमें भागवत में है औरों की तो बात छोड़ो भागवत में है भगवान ने ज्ञान दिया और अर्जुन ने ज्ञान लिया लेकिन उस ज्ञान में अवरोध पैदा हो गया ऐसा भागवत में गीतम भगवता यद सत्य ज्ञानम संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरभ्यगमद विभु विशोको ब्रह्म संपत्तिया संचिन्न द्वैत संशय भगवान ने ज्ञान दिया और अर्जुन ज्ञान लेने को तैयार बीच में रुकावट पड़ गई प्रतिबंध आ गया अवरोध आ गया तो भागवत में कहा क्या रुकावट काय की आई तो काल कर्म तमोरुत्तम बहुत दिन बीत गया मनन करने का मौका नहीं मिला मेरे ध्यान नहीं किया युद्ध कर्म में संलग्न हो गया राजकाज में लग गया और तनस से हाँ, सबके शरीर में तमोगुण का भाव होता है वो मैं गृह हूं के रूप में होता है तो बहुत हाँ, अपना अपने को ब्रह्म जानने के बाद भी कभी कभी देह भाव प्रबल हो जाता है हाँ, रोने वाला आया तो उसके साथ रोना पड़ा किसी ने गलती की तो उसके ऊपर क्रोध करना पड़ा कोई भोजन बहुत मीठा लगा तो फिर खाने का मन हुआ बाह्य वस्तु में बाह्य वस्तु में प्रीति हो जाती है तो इससे ज्ञान का नाश नहीं होता ज्ञान में अवरोध एक प्रतिबंध पैदा हो जाता है तो अर्जुन के ज्ञान के बारे में भागवत में ऐसा है काल कर्म तमोरुद्धम पुनरभगवत विभो फिर से जब और दूर हो गया तो अर्जुन को वही ज्ञान जो कृष्ण ने बताया था वही ज्ञान प्राप्त हुआ तो मोह नष्ट होना चाहिए लोह शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है चित्त का विपरीत हो जाना मुह वैचित्य विचित्तता चित्त से विपरीतता अपना मन ही उलट गया मोह हो गया मन उलट गया जो अपने लिए हानिकारक है उसको लाभ समझने लगे जो लाभ है उसको हानि समझने लगे जो अपना है उसकी ओर पीट कर दिया और जो पराया है उसकी ओर मुंह हो गया देखो अपने जीवन में क्या लीला चल रही है है कोई प्रतिबंध बड़ा है प्रतिबंध अर्जुन ने कहा कि महाराज अब विचित्रता नष्ट हो गई तो अब मैं न जोत से गोविंदम भुक्वा मैं युद्ध नहीं करूंगा ये नहीं से वचन होगा अब तुम्हारी आज्ञा का पालन देखो आप ईश्वर से मतभेद रखते हो कि नहीं जो ईश्वर करता है और आपको पसंद आता है कि नहीं अरे ईश्वर ही भूल जाता है ईश्वर का किया हुआ है ये भी भूल जाता है तो दो बात अपने पर नष्टो मोह स्मृतर लग्ना इसमें तो है नहीं भगवान ने स्मृति का तो पूछा ही नहीं था पूछा था कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट से धनंजय पूछा था अज्ञान सम्मोह तुम्हारा नष्ट हो गया तो कह देता हाँ हाँ अज्ञान सम्मोह नष्ट हो गया बोले नहीं हमको स्मृति प्राप्त है तो वैसे वेदांत में स्मृति का लौकिक जो स्मृति है ना उसका कोई महत्व नहीं है थोड़ी सी बात आपको वेदांत की सलाह देते हैं क्योंकि जो लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं या जिज्ञासु नहीं हैं उनकी समझ में आना बहुत कठिन है स्मृति दूसरी चीज होती है और अनुभव दूसरी चीज होता है जैसे आप बच्चों भाई यहाँ बैठे हैं प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है आंख से देख रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि बच्चों भाई बैठे हैं अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे अपने निवास स्थान पर तब वहाँ याद आवेगी कि बच्चों भाई हमारे सामने बैठ सकते हैं तो स्मृति कब होती है अनुभव काल में स्मृति नहीं होती और स्मृति काल में अनुभव नहीं होता ये दोनों दो काल की वस्तु हैं हो दिल्ली में पराठा खाया था बम्बई में याद आते कल खाया था आज याद आते कल पगड़ी बांधे देखा था आज खुले सिर देख रहा तो याद जो है वो अतीत की बीती बीती बीते हुए की अति है स्मृति गृहित ग्राहिका स्मृति अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम प्रमाण अज्ञात का ज्ञापक होता है और स्मृति अनुभव किए हुए को ग्रहण कराने वाली होती है तो संसार में स्मृति शक्ति हो सकती है आपको कभी कृष्ण का दर्शन हुआ हो तो स्मृति हो सकती है कभी समाधि लगी हो तो आज व्यवहार में उसकी स्मृति हो सकती है कभी रिश्तेदार नातेदार मिले हों तो आज उसकी स्मृति हो सकती है परंतु ये जो आत्मदेव हैं ये तो अनुभव स्वरूप हैं साक्षात करो कभी न तो न तो ये काशी में रह गए और न तो पांच वर्ष पहले रह गए और न तो पहले पागे पगड़ी बांधते थे और नंगे तो से हुए हो तो जो से क्यों और अपने आत्मा का ही नाम अनुभव है तो इनकी स्मृति तो होती नहीं है सदा साक्षात अपरोक्ष और सकृत विभातम बोलते हैं एक बार अनुभव हो गया फिर कभी परोक्ष हो गई नहीं हो गई नहीं तो स्मृति की आवश्यकता भी नहीं होती है तो वेदांत में स्मृति शब्द का अर्थ भी स्मृति शब्द का प्रयोग है तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष स्मृति होती है तो हाँ स्मृति माने शैव लोग ऐसे बोलते हैं पहले तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय अद्वय ब्रह्मता भूल गया था अब याद आ गई मैं तो वही हूँ ब्रह्म ही हूँ वेदांति लोग इसको नहीं मानते हैं वो हाँ, तो और कहते हैं स्मृति माने यहाँ साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है क्योंकि इसका फल जो बताया ना स्मृति लंबे ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा संपूर्ण गाठों का खुल जाना तो संपूर्ण गाठे जिससे खुल जाए उसका नाम स्मृति है तो स्मृति माने तत्वमस्यादि महावाक्य के जन्य प्रमा है यहाँ स्मृति शब्द का अर्थ आपको शास्त्र की बात क्या सुनाने ज्यादा अर्जुन ने कहा बस बस हो गया अनुभव मिट गया मोह तो पहले मोह मिटेगा कि पहले अनुभव होगा पहले अनुभव होगा तो मोह मिटेगा तो पहले मोह मिटा तो उसको मिटाया किसने और जब पहले अनुभव ही हो गया तो मोह रहा कहा आपके ध्यान में है ये ऐसा एक प्रश्न पर विचार करो आप पहले जगते हैं कि पहले नींद टूटते हैं पहले नींद टूटती है तब जगते हैं कि पहले जगते हैं तब नींद टूटते हैं ये दोनों दो चीज नहीं होते हो एक ही चीज नींद का टूटना और जगना एक ही चीज है नष्टो मोह स्मृतर लब्धा ये कैसे हुआ मैंने स्वत था ये है अब यहाँ शिष्य के रूप में आ गए हमको ऐसे दसियों शिष्य मिले हैं लीला कराते कराते <laughs> इतना समय हो गया जब उनकी समझ में कोई बात आ जाती है ना तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गुरु जी से थोड़ी मिला ये तो स्वयं हो गया फिर तो जब ललकार देते हैं न गुरु और न शिष्य न <laughs> गुरु है न केला है ऐसे ललकार देते हैं स्वामी अनंतानंद जी कहते हैं बेटे हैं ये किसी से वेदांत का अध्ययन कर रहे थे तो वो कहते थे कि पहले शंकराचार्य को और ये बड़े बड़े जो आचार्य लोग हुए हैं गुरु लोग उनको बाहर रख के आओ तब फिर <laughs> वेदांत <laughs> तो सुब्रमण तो पर अर्जुन देखो कृतज्ञ है जिनकी कृपा से ज्ञान हुआ और जिन्होंने ज्ञान दूर किया और जिन्होंने सागर से पार उतारा उनके प्रति अर्जुन के हृदय में कृतज्ञता है जब प्रसादा आपकी कृपा से ऐसा हुआ महाराज हाँ, आपकी कृपा से अद्वैतम त्रिशु लोकेशु नाद्वैतम गुरुनाथ तीनों लोक में अद्वैत होता है आप चीकी को बोलिए कि जो तुम हो सो मैं चलेगा आप ब्रह्मा को बोलिए कि जो तुम हो सो मैं चलेगा शंकर को बोलिए जो तुम सो मैं चलेगा लेकिन गुरु के साथ यदि चेला बोल दे कि जो तुम सो मैं तो उसको पागल समझना चाहिए एक पागल चेले हैं हमारे तो जब हमारे पास आते हैं तो यही कहते हैं तो जो तुम हो तो मैं ऐसे तो अब ये देखो अर्जुन की शालीनता अर्जुन की कृतज्ञता वो कहते हैं प्रसादान क्षेत्र आत्मदृष्टि से एकता होती है परमार्थ दृष्टि से एकता होती है शारीरिक या व्यावहारिक दृष्टि से एकता नहीं होती है तो अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता विज्ञापित करते हैं स्थितोस्मि गत संदेह अज्ञान गया अनुभव हुआ मैं अनुभव स्वरूप हूँ अब कोई संदेह नहीं संशय नहीं और कब देखो अपने मन से कुछ करने का जब तक ये मन अपना रहता है ये बड़ी तकलीफ देता है वो जब अपने मन के अनुसार काम नहीं होता तभी तो तकलीफ होती है ना आपको घर में घर गृहस्थी में आपको दुख कैसे होता है बेटे ने आपके मन के अनुसार काम नहीं किया तो दुख हो गया आप जो चाहते थे सो नहीं हुआ हवाई जहाज में कहीं जाना चाहते थे बरसात हो गई नहीं उड़ा तो नहीं उड़ा तो बड़ी तकलीफ हुई महाराज क्यों हम ये चाहते हैं कि ईश्वर भी हमारे मन के अनुसार काम करे प्रकृति भी हमारे मन के अनुसार काम करे भाई बंधु भी हमारे मन के अनुसार काम करें और रूस से हम इसलिए दुखी हैं कि वहाँ ईश्वर की प्रधानता नहीं है अमेरिका से इसलिए दुखी हैं कि वो हमारी गरीबी दूर करने के लिए आगे नहीं आता है, है? तो जो हमारे मन के अनुसार काम नहीं करता है भले वो ईश्वर हो प्रकृति हो विश्व हो हाँ उससे हम दुखी हो जाते हैं हम अपने मन को ईश्वर से बड़ा प्रकृति से बड़ा समाज से बड़ा राष्ट्र से बड़ा अपने मन को समझते हैं हमारे दुख का कारण तो यही है हम शास्त्र से हिप्नोटाइज नहीं हुए ईश्वर से नहीं हुए गुरु से नहीं हुए ये हमारा मन हमारे सिर पर चढ़ बैठा हम जो सोचते हैं जो सो ठीक हम जो चाहते हैं सो ठीक हम जो करते हैं सो ठीक हम जो लेते हैं सो ठीक अरे बाबा जैसे तुम हम हम हम करते हो वैसे दूसरे भी तो है ना तो सबका अलग अलग होता है तुम सबके मन को अपने मन का गुलाम बनाना चाहते हो तुम इतने लोगों के मन का गुलाम क्यों नहीं बनते ईश्वर के मन के साथ अपने मन को क्यों नहीं मिलाते बहू नहीं मानती महाराज बेटा नहीं मानता बेटी नहीं मानती भाई नहीं मानता पति नहीं मानता है? एक स्त्री ने कहा महाराज कोई ऐसा मंत्र बताइए कि हमारे पतिदेव का मन बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैंने कहा देख भाई तू ऐसा मंत्र पूछ कि तेरा मन ठीक हो जाए तो वो मंत्र तो हमको आता है तेरा मन ठीक करने वाला मंत्र तो हमको आता है अब तू तो दूसरे का मन ठीक करने के लिए मंत्र पूछती है तो वो हम कहाँ से बताए ये महाभारत में हो आप लोग कभी पढ़ना एक द्रौपदी सत्यभामा संवाद है इतना बढ़िया प्रसंग है इतना बढ़िया प्रसंग है तो स्त्री के लिए 40 उपदेश द्रौपदी ने किए हैं सत्यभामा को बीच में रखकर सत्यभामा ने पूछा कि द्रौपदी हमारे तो एक ही सर्वस्व है कृष्ण सो तो ये हमारे बस में नहीं रहते हैं हमारे मन के अनुसार नहीं चलते हैं और तुम पांच पांच को अपने मन के अनुसार कैसे चलाते हो और कैसे दर्द में रखते हो ये भारत में प्रश्न है कौन सा मंत्र आता है तुमको कौन सा टोना टोटका आता है द्रौपदी ने कहा सत्यधामा शुक्र हो अपने पति पर टोना टोटका नहीं किया जाता उसको बस में करने के लिए मंत्र का जप नहीं किया जाता पति को बस में करने के लिए सेवा होती है विश्वास होता है उसके अनुकूल आचरण होता है तो ये पति समझो बात समझो सास ससुर समझो भाई समझो टोला टोटका से काम नहीं चलता हूं विश्वास से विश्वास मिलता है विश्वास से प्रेम मिलता है प्रेम से सेवा होती है अगर तुम चाहो कि तुम्हारे पति तुमसे कड़वा न बोले तो जब वो कहीं बाहर से आवे तो उनको बहुत बढ़िया चीज खाने के लिए तैयार करके रखो जितनी देर वो घर में न हो हाँ। उतनी देर उनकी तुम खाने वाली जीव को तुम अपने बस में कर लो तो बोलने वाली उनकी जीव तुम्हारे बस में और खाने को तो भेज दोगे होटल में हैं और पाव भाजी आ जाती है बाजार से और तुम कहोगे कि हमको कड़वा न बोले क्यों न बोले माँ कहते बेटा हमारी आज्ञा नहीं मानता दूध को तो पिलाती नहीं अपना दूध पिलावे तो बात दूसरी रही है जब दूध ही नहीं गया तुम्हारा उसके पेट में तो तुम्हारा बेटा है ये उसके कैसे धान होगा तो भाई ईश्वर के मन से मन मिलाना सीखो तो सही तुम तो अपने मन के अनुसार सबका मन बनाना चाहते हो किसी के मन के अनुसार स्वयं को बनने नहीं चाहते ये हमारे बाबा जी लोग होते हैं बाबा जी की बात मैं जानता हूँ जब पत्नी मन के अनुसार नहीं चली घर में भाई नहीं चला बाप नहीं चला तो आगे ताव में जो सारा हो बोले बस हम तो जंगल में रहेंगे और फल फूल खाएंगे और मांग के खाएंगे और जंगल में रहेंगे कोई साथ रहने लायक नहीं है ताव में आए दोष में गए जंगल अब वो महाराज पेड़ के नीचे जब जाके बैठे तो एक चिड़िया बैठी थी ऊपर उसने किया चाव चाव ने काव काव किया बोले इसकी वजह से हमारा ध्यान नहीं होता है तो लेके घेरा उसको तब बारह उड़ जा यहाँ से मैं ध्यान कर रहा हूँ और महाराज उस समय तो उड़ गई फिर जब ध्यान करने आए तो बैठी आके और उनके ऊपर पीट कर दिया <laughs> महाराज वो चिड़िया उनके मन के अनुसार कैसे चलेगी सहना पड़ेगा कि नहीं चिड़िया का सहना पड़ेगा हो मच्छर का सहना पड़ेगा भूलगों का उत्तर काशी गए भूलगी आके आंख में कान में घुसे राम घाट के जंगल में रहने लगे तो महाराज मच्छर हाँ, मच्छर आके काट अब छोड़ो लो तो हम अपने मन के अनुसार सृष्टि को बना के दूसरे को करके यदि सुखी होना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है हो अपने मन को तो गढ़ नहीं पाते हैं दूसरे के मन को गढ़ना चाहते हैं तो बाबा जो हो सो होने हो ये तो बात नहीं है कि हमको ये अच्छा लगता है तो यही होना चाहिए ये सब धर्म अधर्म की प्रिय अप्रिय की है ना ये सब मन कल्पित निर्वेदम जगत जीवे की कल्पना जब अपने मन की कल्पना है तो एक बार हाथ जोड़ के खड़े हो जाए भगवान के सामने करिष्य वचनम मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ जैसे हो वैसे ही रहो हे प्रभु तुम जैसे हमको रखोगे वैसे ही रहो जहाँ आग लगती है वहाँ हवा अपने आप आती है आपको ये सिद्धांत को तो मालूम होगा जरूर सुना होगा जहाँ आग जलती है वहाँ उसको प्रज्वलित रखने के लिए हवा अपने आप पहुँच जाती है जहाँ भूख लगती है ब्रह्मारोपी समझ जाते तो हैं हमको श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने बताया कुछ मांगने की जरूरत नहीं है रोटी भी नहीं किसी गांव के बाहर जाके बैठ गए पेड़ के नीचे एक दिन दो दिन तीन दिन जब तुम्हारे शरीर को अन्न की आवश्यकता होगी तो दूसरों के मन में अन्न देने की इच्छा भी जागृत हो अगर तुम तीन दिन किसी गांव में भूखे रह जाओ तो उस गांव के लोग तुम्हारी जिंदगी भर खाने का बंदोबस्त करें जब तुम्हारे कपड़े फटेंगे दांत कटकटाएंगे शरीर कांपेगा फटे कपड़े होंगे तो अपने आप ही कपड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा किसी न किसी को निमित्त बना के अरे ये बाबा जी देखो कांप रहा है इसके दांत कटका रहे हैं मन अंधेरा से मर गया जो विधरा कहते मनो भलो न बाप सो जो विधरा कहते यदि विधाता अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करें तो अपने बाप से भी मांगना अच्छा है भागवत में बहुत बढ़िया बात है बगीची कहते हैं कि बगीची के प्रसंग है ये मनुष्य लोग अज्ञानी है नवेद पर संकटम दूसरा मनुष्य किस तकलीफ में है इसको जानता नहीं नवेद पर तो यदि वेद नयाचित यदि वो दूसरे की परिस्थिति को बिल्कुल ठीक ठीक समझ पाता तो उससे कुछ मांगता नहीं और लेती ना है यदि ईश्वरा यदि देने वाला सामने और मांगने वाले की परिस्थिति को समझता तो ना कभी न बोलता दोनों ना समझे हो न देने वाला सामने वाले की परिस्थिति को नहीं पा समझ पाता और मांगने वाला देने वाले की परिस्थिति को नहीं समझ पाता अपने अपने मन की दोनों हाथ कर एक बार हाथ उठा दो जैसे जैसे ज्यो ही ज्यो ही रखियत हो त्यों ही त्यों ही रहियत हो हे हरि हे प्रभु तुम हमको जैसे जैसे रखते हो वैसे वैसे ही हम रहेंगे भूखा रखोगे तो भूखा रहेंगे नंगा रखोगे तो नंगा रखेंगे रहेंगे बीमार रखोगे बीमार रहेंगे मारोगे तो मर जाएंगे हमको अपनी वासना भिड़ाने की जरूरत नहीं है उपनिषद का एक वचन है दोहरा देना अद्यास्तमे तो बपुरा सुषिता रमास्ता मम चिद बपुषो विशेष कुंभे विनश्यति चिरं समवस्थिते से नहीं कोपि विशेष ये शरीर चाहे आज नष्ट हो जाए और चाहे जब तक चंद्रमा और सूर्य है तब तक रहे इससे हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं आती है घड़ा चाहे आज फूट जाए और चाहे सौ वर्ष के बाद फूटे वो जो घटाकाश है कुंभे विनश्यति चिरम समवस्थित घड़ा आज फूट जाए तो क्या और सौ वर्ष के बाद फूटे तो क्या घड़े में जो आकाश है वो घड़े के रहने से कुछ बनता नहीं और घड़े के फूटने से कुछ बिगड़ता नहीं जो का क्यों ये चिदम्बर है शरीर अरे बाबा इसको नचाने वाला दुनियादार के हाथों में नाचना और ईश्वर के हाथ को न दे ईश्वर नचा रहा है भाई नट मरकट ये सब है तो परमात्मा नट मरकट के समान जैसे नट बानर को नचाता है ऐसे सबको नचाता है नट मरकट यो समय नचावत तो राम खगेश भेद असगावत आधार दोषित की नाई समय नचावत राम गोसाई और जैसे कठपुतली का नाच होता है ऐसे ये कठपुतली का नाच हो रहा है नारायण और नचाने वाला कौन बस नचाने वाले पर अगर तुम्हारी नजर चली गई तुम नहीं हो नचाने वाले ये शरीर नाचने वाला है ईश्वर इसको नचा रहा है और तुम तो इस नट और नाच की है इस नृत्य का भी आनंद ले रहे हो नचाने वाले का भी आनंद ले रहे हो साक्षी सर्वाधिष्ठा चिन्मा परिश्य वचनम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर्मम चलाने वाले तो हो भगवान योगेश्वर योग माने जो हम साधन करते हैं उपाय करते हैं युक्ति करते हैं उसके मालिक भगवान वो चलाते हैं और जीव अर्जुन के रूप में हो समझ राशि बस वहाँ चार चीज आपको पक्की मिले श्री ही विजयो भूतिर ध्रुवानी आपके घर में हमेशा आपके हृदय में लक्ष्मी बनी रहे तो आपके घर बाहर सब जगह लक्ष्मी है विजय अगर आप अपने मन से नहीं हारते हैं तो सब जगह आपकी जीत सारा वैभव विश्व सृष्टि का आप कैसे है देखो चंद्रमा की रोशनी हमारे देखने के लिए है सूर्य की रोशनी देखने के लिए है धरती का सारा जल हमारे पीने के लिए है सारी धरती हमारे चलने के लिए है सारी हवा हमारी सांस लेने के लिए है सारा वैभव तो हमारा ही है और फिर राजनीति बदलने की जरूरत नहीं तो फिर पार्टी की सरकार बदले कि दुनिया में उथल पुथल हो गए एक नीति है ध्रुव नीति है ये संजय ने सारी गीता सुन के निश्चय किया नारायण आप भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोल दें करिष्य वचनम तब और देखो आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा इसी समय सारे दुख मिट जाएंगे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है जो भगवान कर रहा है उसमें हम प्रसन्न है नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा स्वत प्रसादा नयाच्युत हम कई धन्यवाद लोग देते हैं आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था की इतना बढ़िया हाल दिया है लाउड स्पीकर लगाया रोशनी दी स्वागत सत्कार किया आपका बड़ा उपकार है परंतु आपके भीतर बैठकर जो ये सब कुछ कर करा रहा है वही वहाँ बैठ के कराता है और यहाँ बैठ के वही बुलवाता है, यदि श्रोता न हो तो बक्ता किसको बोले बक्ता न हो तो श्रोता किसको सुने तो बक्ता और श्रोता दोनों के भीतर बैठ के कान में बैठ के जो सुनता है और जीत पर बैठ के जो बोलता है ना उसी के प्रति कृतज्ञ होना उसी को धन्यवाद देना उसी के सामने हाथ जोड़ कर बोलना करिष्य वचन करो